ऋग्वेदीय परिषद तृतीय अध्याय के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था लास्ट से कुछ हो गया था टीका कुछ चल रही है यदेत हृदय मनश्चेत यहां से आया ये जो हृदय कहा गया है प्राण प्रजाओं का सार शरीरों का सार वो मन ही है वही मन आज संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेरा स्मृति आदि किसी का नाम है धृति मति स्मृति सब इसी का एक प्रज्ञान का नाम है गौण नाम है मुख्यतः तो नाम रूप से रहित है प्रज्ञान रूप ब्रह्म हाँ, संतु मन के साथ तादात्म करके मन के जो वृत्तियों को लेकर के उसका नाम कहा ये सारी मन की वृत्तियां हैं ये संज्ञान आज्ञान आदि एक बताया था टीका चल रही थी चेतन भावा का संज्ञान मन संजति चेतन भाव भाष्य में से कहा था संज्ञान शब्द का अर्थ है यहाँ ज्ञात धातु से लूट प्रत्यय भाव में है कर्ण कारक में नहीं है मानी ज्ञाते ज्ञानम ऐसा नहीं करना आता ज्ञाते अन्य ज्ञानम ऐसा नहीं ज्ञाते ज्ञान ऐसा भाव में है इसलिए संज्ञप्ति बोला धातु से तीन करके बताया <coughs> तो यहाँ संज्ञान का अर्थ चेतन भाव एक चेतना वृत्ति है अंतकरण की वृत्ति है वो जिसके कारण चेतन कहलाता है कभी होश आवास में होता है मन काम करता है वृत्ति चेतना युक्त तो होती है जैसे मूर्छित अवस्था में चेतना खो जाती है चेतन नहीं होता चेतन तो हमेशा ही है चेतना एक मन का धर्म है वृत्ति है वो खो जाती है मूर्छित अवस्था में अभी चेतना शून्य हो गया बोलते हैं बाद हाँ, चेतना आ गई इसमें मतलब होश में आ गई चेतना मनोवृत्ति है चेतना आत्मा है तो चेतना एक उसका संज्ञप्ति संज्ञान नाम है उसका नाम है उसके कारण से इसको चेतन बोलते हैं ये कहा ठीक है कहते हैं यया वृत्तिया चेतना इति जिस वृत्ति के आने पर चेतन कहा जाता है निश्चित अवस्था में चैतन्य नहीं मानते क्यों नहीं मानते चेतना नहीं मानते यया वृत्तिया चेतन उच्चते जंतु जिस वृत्ति के द्वारा ये जंतु जीव है प्राणी है चेतन कहे जाते हैं उस वृत्ति का नाम है चेतन यहाँ संज्ञान शब्द से दिया उसका नाम सा वृत्ति वो जो चेतना नाम की वृत्ति है मन का धर्म है सर्वदा सर्व शरीर व्यापी नहीं संज्ञान है हमेशा है सभी शरीर में व्याप्त है चेतना तो संज्ञान उसी का नाम है चेतना मन की वृत्ति है वो एक नाम है परमात्मा का नाम है समझा आगे कपालादि परिज्ञानम चतुष्ट कलादि परिज्ञानम चतुष्टि कला जन्म ज्ञान लौकिकम ज्ञानम इत्यादि आगे विज्ञान का अर्थ किया था आज्ञान का अर्थ ज्ञप्तिर आज्ञप्तिर ईश्वर भाव कहा था आज्ञा देना आदि जो होता है और विज्ञान का अर्थ कलादि परिज्ञान का अर्थ कलादि कितने कला होते हैं चौसठी कला लौकिक व्यवहार में कला चौसठ प्रकार के मान है कलादि परिज्ञान मान चौसठ कलादि जन्म चौसठ कलादि जन्म जो लौकिक ज्ञान है उसको यहाँ पर विज्ञान शब्द से कहा सात की टिप्पणी कलयति ज्ञापयति संगीत आदि नहीं संगीत आदि चौसठ प्रकार के होते हैं सब मिल करके मान नृत्य भाग्य तत्काल आदि साधा मिलाकर करके चौसठ प्रकार के कला होते हैं तो कला यदि कल धातु से कला बनाया है ज्ञापयति संगीतादि कला संगीतादि शास्त्र उत्तर संगीतादि शास्त्र लौकिक शास्त्र है इसी का नाम विज्ञान शब्द से कहा है आगे प्र, मैंने प्रज्ञान शब्द का अर्थ किया था प्रज्ञप्ति प्रज्ञता बोला था उसका अर्थ क्या है तो कहा तात्कालिक प्रतिभा एकाएक प्रतिभा विशेष होता है तात्कालिक उत्तर दे सकता है किसी बात में सोचना नहीं पड़ता जैसे बीरबल आदि ने कहा करते थे इस प्रकार प्रज्ञान माने वृत्ति रूप प्रज्ञान और चेतन जो प्रज्ञान है वो वो इसका एक प्रज्ञान भी एक नाम है उस प्रज्ञान का चेतन आत्मा का नाम है ये प्रज्ञान ये तो वृत्ति है अच्छा धृति क्या चीज है कहा यया उत्तम मनम भवती सा वृत्ति धृति जिसके द्वारा शरीर स्थिर रह जाता है गिरता नहीं है मन गिरता नहीं है धैर्य जिसको बोलते हैं वृत्ति कोई नहीं शरीरादि उत्तम पकस्य वृत्ति विशेष से वृत्तित्व लौकिक व्यवहार नाम शरीरादि को उठाने वाला वृत्ति विशेष को तो धृति कहने में लौकिक व्यवहार प्रमाण देते हैं क्या बोलते हैं धृत्या शरीरम उद्वहंती ऐसा बोलते हैं धृति से ही धैर्य से ही शरीर का धारण करते हैं ऐसा कहते हैं लोग एक आदमी आगे मतिर का अर्थ मानव कर दिया है और मनीषा का अर्थ करते हैं मतिर मानम मनीषा माने स्वतंत्र माने वो जो मनन करने के लिए जो स्वतंत्र हो उसको मनीषी लोग बोलते हैं ना मनीषा है उनमें स्वतंत्र है वो चिंतन में ऐसे लोगों को मनीषी बोलते हैं मनसा ईशा मनीषा मन के स्वामी जो होगा उसको मनीषा बोलते हैं इति व्युत्पत्ति इस व्युत्पत्ति से स्वतंत्र स्वातंत्र को ही मनीषा कहा जाता है मनन करने में जो स्वतंत्र है वही मनीषा है ये कहा आठ की टिप्पणी कहा इतर निरपेक्ष या प्रेरित वृत्तिया मनो मनने प्रवर्तते सा मन प्रेरिका मनने वृत्ति स्वतंत्र मनीषा एक वृत्ति विशेष का नाम मनीषा है वो मनीषा वाला जो वृत्ति वाले को मनीषी बोलते लोग इतर अन्य की किसकी अपेक्षा किए बिना इतर निरपेक्ष या वृत्तिया प्रेरितम मन इतर की अपेक्षा न करके जिस वृत्ति के द्वारा प्रेरित जो मन होगा वो मन मनने प्रवर्तते अपना मनन रूप क्रिया में प्रवृत्ति होता है मन सा मन प्रेरिका मनने वृत्ति उस मनन में मन को प्रेरणा देने वाली जो प्रेरिका वृत्ति है वो वृत्ति स्वतंत्र मनीषा वो वृत्ति स्वतंत्र है उसी को मनीषा का और ऐसे मनीषा जिसके पास हो मनीषी बोलेंगे आगे टीका में कहते हैं रूजादि दुखित्व भाव दुखित्व भाव कहा था जूती का अर्थ कहा था चेतसो रूजादि दुखित्व भाव वास्तव से कहा था जूती का अर्थ मन में एक दुखीपना आ जाना रोगादि के कारण से मन दुखी हो जाता है कोई की वृत्ति है कहा था उसी के टीका में कहते हैं रोगादिजन्य दुखित्व तो प्राप्ति इत्यर्थ जूती जूति का आता है रोगादि से उत्पन्न होने वाले जो दुखित्व तो मन में एक वृत्ति बनती है वृत्ति दुखाकार वृत्ति बनती है रोगादि के कारण से उसी वृत्ति का नाम है जूति बताया रोगादि में बहुत वृत्ति पढ़ने बताया रोगादिजन्य दुखाकारा वृत्ति इत्यर्थ रोग आदि अथवा शत्रु आदि के ताड़ना है खाली रोग से ही नहीं होता कई तरह से दुखी होता है व्यक्ति शत्रु के ताड़ना से भी दुखी हो जाता है रोगादि जन्य दुखाकारा वृत्ति रोगादि से उत्पन्न जो दुखाकार एक वृत्ति होती है दुखाकार उस वृत्ति का नाम ज्योति है ये बता रहा संकल्प शब्द है आगे स्मृति माने मरणम वो तो हो जाएगा स्मृति का अर्थ चिंतन पूर्व अनुभूत विषय याद करना हो मन की वृत्ति है आकाश संकल्प बने शुक्ल कृष्णादि भावे न संकल्पन उपाधि न कहा था ये सफेद है ये काला है इस रूप से अलग अलग निश्चय करना यह संकल्प शुक्ल कृष्णादि भाव में से बताया था इसी का टीका है सामान्य न प्रतिपन्ना नाम रूपादि नाम शुक्लादि रूपेण सम्यक कल्पना भी करते हैं एक साथ प्राप्त थे कौन सफेद है कौन लाल है ऐसा मालूम नहीं था किंतु तो अलग अलग करके पहचान करना इसका नाम है संकल्प सम्यक कल्प संकल्प सामान्य ने प्रतिपन्ना एक साथ प्राप्त था सारे एकादि सफेद लाल एक मिले हुए आए थे हमारे पास सामान्य ने प्रतिपन्ना नाम रूपादि नाम विरूपादि वस्तु है उनका शुक्लादि रूपेण सम्यक कल्पना एक एक करके अलग कर देना सम्यक प्रकार से कल्पना कर रहा है संकल्प सम्यक कल्प संकल्प ऐसा होगा <clears throat> पशु का क्रतु माने अध्यवसाय बोला था क्रतु शब्द का निश्चय करना कोई भी विषय हमारे पास पहले आएगा सामने विषय होगा एकाएक निश्चय नहीं होता यह है कि वो है हमें संदेह पूर्वक वृत्ति होती बाद में यही है करके जो निश्चय होता है उसी का नाम है ये अध्यवसाय शब्द का अध्यवसाय मैंने विशेष निश्चय होना है आगे अशु माने भाष्य में कहा था प्राणनादि जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति ये वृत्ति विशेष है माने प्राण आदि में जो क्रिया चलती है प्राण क्रिया आदि में तो जीवन के निमित्त ऐसे वृत्ति है उस वृत्ति का नाम अशु ये कहा तो प्राणनादि टीका में कहते हैं जीवन प्रयत्न इत्यर्थ है नई आयिकों ने प्रयत्न को तीन प्रकार में विभक्त किया है प्रवृत्ति रूप प्रयत्न निवृत्ति रूप प्रयत्न और जीवन रूप प्रयत्न इष्ट वस्तु को देख करके हमारे आगे जाने के लिए तैयार होते हैं प्रयत्न होता है उसके तरफ हम जाते हैं पहले प्रयत्न होता है उसका हलचल होता है प्रयत्न ऐसा है पहले भीतर होता है प्रयत्न और चेष्टा शरीर में पहले भीतर प्रयत्न होगा मन में हलचल होगा इष्ट वस्तु देखने पर पाने के लिए तैयारी में जाने की इच्छा होती है वो प्रयत्न भीतर है पहले उसके बाद शरीर में क्रियान्वित तो हो जाता है प्रक्रिया चलेगी आप तो वो होता है एक <clears throat> इष्ट को देख करके प्रवृत्ति रूप प्रयत्न होता है और अनिष्ट देखने के बाद निवृत्ति रूप प्रयत्न होता है हटने की इच्छा होती फिर व्यक्ति हटने लग जाता है पहले भीतर हटेगा बाहर बाहर हटेगा तो प्रयत्न भीतर है बाहर का चेष्टा होता है शरीर की क्रिया पर चेष्टा बोलता है तो प्रवृत्ति रूप प्रयत्न निवृत्ति रूप प्रयत्न और एक जीवन रूप जीवन योनि नाम का प्रयत्न होता है जीवन के कारण एक प्रयत्न है जिस प्रयत्न से जीवन चल रहा है माने प्राण की जो नीचे ऊपर कराया जा रहा है वहां भी आपका प्रयत्न काम कर रहा है आप ही काम करते हैं सुसुप्ति तक काम कर रहे हैं अगर आप उसका वो प्रयत्न नहीं करेंगे तो चला जाएगा शरीर जीवन योनि प्रयत्न है जीवन के कारण रूप प्रयत्न प्राण की क्रिया जो होती है निरंतर चल रही है यह है जीवन योनि प्रयत्न प्रयत्न हो रहा है नीचे ऊपर प्राण कर रहे हैं जिसे जीवन चल रहा है जीवन योनि प्रयत्न करते हैं यही कहा जीवन प्रयत्न इत्यर्थ है हाँ ये बताया इन्होंने पशु <clears throat> का अर्थ है जीवन प्रयत्न जीवन योनि प्रयत्न है दस नंबर की टिप्पणी है इसकी जीवन योनि प्रयत्न पाठांतरम कहेंगे यह जीवन प्रयत्न दिया कहेंगे जीवन योनि प्रयत्न दिया है मान जीवनानुकूल व्यापारिक व्यापार जनिका वृत्ति एक अंतकर्मी की वृत्ति है जीवन के अनुकूल व्यापार करने वाली वृत्ति है जीव प्राणधारण प्राणधारण के अनुकूल व्यापार करने वाली वृत्ति को अशु कहा जाता है क्या पता अच्छा अच्छा आगे कहा था बसा का अर्थ स्त्री व्यतिकर काम मैंने असमहित विषय कांक्षा तृष्णा कहा था सामने विषय नहीं है दूर में है विषय किंतु मैं भूयात ऐसी इच्छा हो जाती मेरे हो जाए ऐसे तो कहते काम और बस का अर्थ भी वही है काम इच्छा ही है किंतु सामने विषय है स्त्री करा करारी अभिलाषा परस्पर जो मिलने की इच्छाएं होती है स्त्री पुरुष में इत्यादि अभिलाषा है इसका नाम है काम ये कहा माने स्त्री संपर्क इत्यर्थ है बता दिया स्त्री के साथ संपर्क करने की इच्छा विशेष है उसका नाम बसा है इति शब्द से प्रदर्शनार्थ आगे बस इति काम बस इति मंत्र में व्यस के आगे इति शब्द लगा हुआ है मंत्र में किसके लिए वो प्रकार दिखाने के इतना है और भी है प्रकार दिखाने के लिए इति शब्द आया है तो आगे प्रकार और भी है इति शब्द से प्रदर्शनार्थत्व एक माध्या का इतना ही मनोवृत्ति इतने ही और भी वृत्ति बनते हैं ये तो एक दृष्टांत के लिए इतना वृत्ति दिखा दिया मन की वृत्ति और भी है प्रदर्शनार्थत्व ग्यारह की टिप्पणी माने उपलक्षणार्थत्व ये उपलक्षण है ये स्वग्राहकत्व सती स्व इतर ग्राहकत्व बोलो अन्य का भी ग्रहण कराया गया खाली इतनी वृत्ति यही पंद्रह सोलह वृत्ति नहीं होती वृत्ति और बनती अनेक वृत्तियां हैं ये बताया ठीक है हम कहते एवं आद्या वृत्तया प्रज्ञान से नाम भवंती उत्तर आज के साथ हमें करना देना ये सब जितने भी वृत्तियां बताई गई ये प्रज्ञान जो ब्रह्म है प्रकृष्ट ज्ञानम प्रज्ञानम उस परमात्मा का नाम होते हैं गौण नाम है सब मन के साथ तालात्मा होने के कारण मनोवृत्ति नाम बने हुए सब गौण है अत्र प्रज्ञान शब्द न पूर्ववत प्रज्ञता वृत्ति रूपा न उच्चते यहाँ प्रज्ञान शब्द का अर्थ प्रज्ञान से नामधेयानी में आया हुआ जो प्रज्ञान शब्द है या प्रज्ञान शब्द पहले जैसे प्रज्ञता नहीं लेना तो प्रज्ञान नाम में भी आया है एक बार प्रज्ञान संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान वो प्रज्ञान तो वृत्ति है किंतु तो अभी जो प्रज्ञान से में षष्ट्यंत प्रज्ञान आया वो वृत्ति नहीं है ये बता रहे अत्र यहां पर जो प्रज्ञान शब्द आया प्रज्ञान से नाम में प्रज्ञान आया इस प्रज्ञान शब्द है ना पूर्ववत जैसे पहले प्रज्ञान का अर्थ प्रज्ञता तात्कालिक प्रतिभा बताया था वृत्ति को बताया था वो यहां नहीं लिया जाएगा प्रज्ञता वृत्ति रूपा न उच्चते वृत्ति रूपा प्रज्ञता नहीं लिया जाएगा प्रज्ञान का यहाँ तो आत्मा है चेतन है प्रज्ञान ये जो प्रज्ञान से नाम रेयान में आयु प्रज्ञान तस् संज्ञानादि नामवत्व अनुपत्ति है ये जो प्रज्ञान है इसका संज्ञानादि नाम पहले वाले आए हुआ जो प्रज्ञान है नाम नहीं हो पाएगा वो नामवान नहीं होगा पहले वाली प्रज्ञान वो तो नाम है और ये नामवान है नाम वाला है ये प्रज्ञान तस्या मैंने पूर्व कथित जो प्रज्ञान शब्द आया वृत्ति में आया हो प्रज्ञान का संज्ञान आदि नामवत्व तो नाम नामवान नहीं बन पाएगा वो तो नाम है अभी जो आया नामवान है ये नामवत्व तो इसमें आएगा ये प्रज्ञान अलग है पहले वाला प्रज्ञान तो मन की वृत्ति है और अंतिम में जो प्रज्ञान से नाम यानी में आयु हुआ प्रज्ञान शब्द वृत्ति नहीं वृत्तिमान है नाम वाला है ये ये कहा किंतु फिर क्या होगा कहते हैं किंतु शुद्ध चैतन्य मुझे या प्रज्ञान शब्द करते शुद्ध चैतन्य प्रज्ञान से नामधेयानी में जो प्रज्ञान शब्द है शुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य है पहले जो प्रज्ञान आया था वो मन की वृत्ति थी नाम वाला प्रज्ञान ये नाम ही है ये शुद्ध चैतन्य इसलिए कहा प्रज्ञप्ति मात्र कहा था भाष्य में कहा था इतव माध्यम अंतकरण वृत्ति इत्यादि जो पंद्रह सोलह वृत्तियां बताई है आदि से और भी सारी वृत्तियां हैं कई वृत्तियां बनती है सारी वृत्तियां प्रज्ञप्ति मात्र से उपलब्ध जो ज्ञान मात्र स्वरूप जिसका है प्रज्ञप्ति मात्र ज्ञान स्वरूप मात्र जिसका स्वरूप ज्ञान मात्र है ऐसा ब्रह्म उपलब्धा का इन वृत्तियों के जो उपलब्धा होगा वृत्ति को जो जानता है अंतकरण में कौन सी वृत्ति बनी जानता है उस उपलब्धा का उपलब्ध तत्व उस उपलब्धा के उपलब्धि के परिचायक हैं ये वृत्ति को जानने वाला जो होगा वही आत्मा होगा ये इसी तरह से जानना है बस वृत्ति के साक्षी जो होगा वो आत्मा वृत्ति को जो जान रहा है यानी इस पिंड में जो अंतकरण की सारी वृत्तियों को देख रहा है वही आत्मा है इस तरह से जानना आत्मा का जैसे वायु वायु क्या है जो शाखा में चाह रहे थी सब वायु जो वृक्ष की शाखा को हिलाता है वो वायु है वायु प्रत्यक्ष नहीं होता फिर वायु का ज्ञान होता है वायु के बिना दृश्य की शाखा हिल नहीं सकती हिल रही है इस मतलब वायु है वहां वायु का पहचान जैसा होना उस प्रकार से ये कहा प्रज्ञा की मात्र से उपलब्ध उपलब्ध करता उस उपलब्धा के उपलब्धि के लिए माने वृत्ति के उपलब्धा के उपलब्धि ये वृत्ति के माध्यम से होना है वृत्ति के साक्षी रूप से ही पहचान है उसका और कोई उपाय नहीं इसलिए शुद्ध प्रज्ञान से प्रज्ञान रूप से ब्रह्मा उपाधि होता ये सारी वृत्तियां जो शुद्ध प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उसके उपाधियां हैं उपाधि तद उपाधि जनित गुण नाम रहेगा तो वृत्ति रूपी जो उपाधि है उसी के उपाधि से उत्पन्न गौण नाम है मुख्य नाम तो नहीं है भगवान परमात्मा नाम नहीं होता विष्णु शास्त्र नाम के महात्मा होता है यानी नामानी गौणानी विख्यातानी महात्मा ऋषि परिगीतानी तानी वक्षान भूत है जितने गौण नाम बताए मुख्य नाम तो परमात्मा को होता ही नहीं नाम रूप से रहता है वो गौण नाम यानी नामानी गौणानी जितने भी नाम बताए गए गौण है मुख्य नहीं है मुख्य तो नाम होता ही नहीं अनाम रूप है नाम रूप रही ज्ञानी नामानी गौणानी विख्यात आनी महात्मा महात्माओं ने विख्यात विख्यात है महात्माओं ने व्याख्या की जिनके नाम होती ऋषि को मैं तुम्हारे ऐश्वर्य के लिए बताता हूं गौण होते हैं सब उपाधि भूता का भूतादि जनित गुण नाम यानी ये मुख्य नाम है गौण नाम है नामधेय शब्द में रूप नाम भाग भाग रूप नाम ध्येय ऐसा एक सूत्र है व्याकरण भाग शब्द रूप शब्द नाम शब्द से ध्यय प्रत्यय स्वार्थ होता है भाग कोई भाग दे बोलते हैं नाम कोई नाम देय बोलते हैं नाम में ध्येय प्रत्यय स्वार्थ में है भवंती संज्ञान आदि संज्ञान आदि नाम हो जाते हैं गौण नाम होते हैं उस परमात्मा का ऐसा भाष्य में कहा आगे भाष्य में कहा सर्वाणी एवं एतानी प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान से नाम अधेयानी भवती न स्वतः साक्षात सबके सब जितने बताए गए नाम है ये हाँ, संज्ञान आज्ञान प्रज्ञान वेधा जितने भी बताए गए नाम है ये प्रज्ञप्ति मात्र से ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा ज्ञान रूप से ही पाया जाता है पंचदशी में तत्व विवेक प्रकरण जो प्रथम प्रकरण है विद्यारण स्वामी ने ज्ञान रूप में ही आत्मा का परिचय दिया घट ज्ञान काल में भी ज्ञान है पट ज्ञान काल में भी ज्ञान है दोनों में ज्ञान है हाँ, और किंतु घट ज्ञान काल में पट नहीं है पट ज्ञान काल में घट नहीं है उनका व्यविचार है घट और पट का व्यविचार दिखता है एक एक काल में दूसरा नहीं है किंतु दोनों काल में ज्ञान है घट ज्ञान काल में भी ज्ञान है पट ज्ञान काल में ज्ञान है जो ये व्यविचारी है और ज्ञान में भी विज्ञान है इसी प्रकार जागृत में भी ज्ञान है स्वप्न में ज्ञान है सुश्रुति में भी ज्ञान है ज्ञान का अभाव कभी नहीं है जागृत शरीर का अभाव स्वप्न में है स्वप्न शरीर का अभाव सुश्रुति में है शरीरों का भी विचार है किंतु जहां पहुंचेगा ज्ञान तो रहेगा उसका ज्ञान का अभाव नहीं होगा ऐसा कर करके कर करके कल भी ज्ञान था आज भी ज्ञान है आगे भी ज्ञान रहेगा और इस जन्म में ज्ञान है तो अगले जन्म में ज्ञान रहेगा इस तरह से ज्ञान रूप सिद्ध किया तत्व विवेक प्रकरण जो प्रथम प्रकरण पंचदशिकार में आत्मा को ज्ञान रूप से सिद्ध किया और सत्यम ज्ञान वनतम ब्रह्म तैतिरुपनिषद भी बोला है ज्ञान स्वरूप बताया है ज्ञान है ये कहते हैं सर्वाणी एवं एतानी प्रज्ञप्ति मात्र जो परमात्मा प्रज्ञप्ति स्वरूप है माने ज्ञान स्वरूप है एक तीन प्रत्यय लगाए भाव में दिखाने के लिए भाव मैंने ज्ञान धातु का अर्थ भी है ज्ञान स्वरूप है ऐसे प्रज्ञान जो परमात्मा उसका नाम देयानी थी ये सब के सब कहे गए वृत्तियां मनोवृत्तियां उसके नाम हो जाते हैं न स्वतः साक्षात स्वतः परमात्मा का कोई नाम नहीं है आत्मा का कोई नाम नहीं होता आम रूप से रहित है साक्षात नहीं है वृत्ति अंतकरण के वृत्ति के माध्यम से नाम प्राप्त किया है न स्वतः साक्षात स्वतः तो उपहितम अद्वारी कृत्य का उपाधि को दिए बिना नाम नहीं आ सकता परमात्मा ये तो उपहित बना के उपाधि विशिष्ट बना करके नाम दिया टिप्पणी का उपहितम अद्वारी कृत्य उपहित मान उपाधि विशिष्ट को द्वारा बनाए बिना नहीं हुआ तो मुख्य नाम नहीं उपाधि के माध्यम से जो नाम आता है वो मुख्य नाम नहीं होता ये बताया तथा से उत्तम इसलिए कहा वृद्धार्मिक आदि में कहा प्राण में वो प्राण होती जब प्राण क्रिया करता है तो उसको प्राण नाम प्राप्त करता है पश्चन चक्षु जब देखता है उस काल में दर्शन क्रिया के कारण उसको चक्षु कह देते हैं ऐसा ऐसा नाम आता है श्रवण श्रोत्रम जब सुनता है वो शब्द सुनने लगा उस काल में उसको श्रोत्र बोल देते हैं वास्तव में वो श्रोत्र भी नहीं है चक्षु भी नहीं है प्राण भी नहीं है ऐसा होगा प्राण एवं प्राणो नाम बहुत इत्यादि वृद्धारण आदि में ऐसे बताया है प्राण क्रिया करने के कारण से ही प्राण नाम प्राप्त करता है स्वतः उसका नाम नहीं इत्यादि टीका देखिए प्रज्ञप्ति मात्र से कहा था उसके आगे टीका नानो अंतकरण वृत्ति नाम शब्द अभाव कथम प्रज्ञान नाम हेतु में आ सकते कहते महाराज अंतकरण की वृत्ति तो शब्द तो नहीं है ना नाम तो शब्द रूप होता है विष्णु मित्र यज्ञ दत्ता देवदत्ता ये नाम जो है शब्द स्वरूप होता है अंतकरण की वृत्ति शब्द थोड़ी है वो वृत्ति तो एक आकार है तो कैसे नाम हो गया अंतकरण की वृत्ति प्रज्ञान प्रज्ञप्ति परमात्मा का नाम कैसे होगा वृत्ति एक आकृति है आकार है सुखाकार दुखाकार एक वृत्ति बनती है तो शब्द तो नहीं है नाम तो जो होता है शब्द होता है ये शब्द रूप नहीं है शब्द से भिन्न है ये तो नाम कैसे कह दिया प्रज्ञान से नाम रेहानी ने कैसे बोला ये शब्द नहीं है ये शंका है नानो अंतकरण वृत्ति नाम हाँ, ये सारे के सारे संज्ञान आज्ञान विज्ञान जितने भी बताए अंतकरण की वृत्ति बताई है तो अंतकरण की वृत्ति कोई शब्द तो नहीं होता और नाम शब्द होता है नाम माने शब्द है जैसे देवदत्त बोलेंगे तो शब्द है यज्ञ दत्त बोलेंगे शब्द है विष्णु मित्र आदि जो भी बोलेंगे शब्द होता है वो नाम तो शब्द रूप होता है और ये वृत्ति है तो कैसे परमात्मा का नाम होंगे वृत्ति ये शंका है नानो अंतकरण वृत्ति नाम शब्द रूपत्व भावा अंतकरण वृत्ति में शब्द रूपत्व नहीं है शब्द स्वरूप नहीं है ये शब्द स्वरूप के अभाव होने से कथम प्रज्ञान नाम ध्येयत्व प्रज्ञान का नाम कैसे बनेंगे ये उस आत्मा का नाम कैसे होंगे नाम जो होता है शब्द स्वरूप होता है ये शब्द रूप वृत्ति आकार है अंतकरण की हाँ। आकार आकार है वो शब्द रूप नहीं है तो नाम कैसे बना ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं नामदेश नामनी अर्थ उपलब्धि हेतु संज्ञान वृत्ति नाम भी ज्ञान उपलब्धि हेतुत्वाद तेन गुणेन तम नामधेयत्व उपचारा उच्चते न मुख्या गौण गौण रूप से इसको नाम बताया कैसे बताया जैसे नाम होते हैं किसके लिए होते हैं नामनी अर्थ उपलब्धि हेतु जो नाम वाला होगा नाम में अर्थ हमारे विषय की उपलब्धि कराते हैं देव गौ बोलेंगे तो नाम बोला था गौ शब्द उच्चारण किया वो नाम में क्या आएगा अर्थ की उपलब्धि चौपा जानवर की उपलब्धि होगी गौ कहने का नाम का जो प्रयोग किया जाता है अर्थ उपलब्धि के लिए नाम और अर्थ शब्द और अर्थ दो होते हैं तो नाम का प्रयोग जो करते हैं जैसे घटा घटा में आने घट शब्द का प्रयोग किया और लाया जाएगा मिट्टी के पात्र का अर्थ अर्थ उपलब्धि के साधन होता है नाम जैसा नामधेय नामनी अर्थ उपलब्धि नाम यह जो होता है नाम में क्या होता है अर्थ उपलब्धि का हेतु होता है नाम नाम उच्चारण करने पर व्यवहार अर्थ में होता है शब्द और अर्थ दो होते हैं तो शब्द का उच्चारण होगा नाम माने शब्द है और क्रिया हो गया अर्थों में मनुष्य कहेंगे तो इसका ज्ञान हो जाएगा मनुष्य शब्द मकार अकार नकार उकार सकार एकार आकार हकार मनुष्य होगा किंतु वो शब्द है अर्थ में अर्थ उपलब्धि का साधन है मनुष्य कहेंगे तो व्यक्ति का ज्ञान होगा अर्थ उपलब्धि का साधन होता है शब्द ये कहा नामधेय से नामनी अर्थ उपलब्धि हेतुत्वाद तो नामधेय मान शब्द जो होता है नाम में अर्थ उपलब्धि के हेतु हेतु होने कारण होने से संज्ञानादि वृत्ति नाम अभी है संज्ञानादि वृत्ति भी ऐसा ही अर्थ उपलब्धि के हेतु है नाम जो काम करता है वही काम संज्ञानादि वृत्ति में भी है संज्ञानादि वृत्ति नाम अभी प्रज्ञान उपलब्धि प्राप्त प्रज्ञा नामक ब्रह्म की उपलब्धि का कारण है होने से तेरह गुण है ना यही माने अर्थ उपलब्धि के हेतु होने के कारण एक गुण है कौन होने से तम नाम रहे तो इसलिए प्रज्ञान को नाम रहे बन दिया उपचाराद उच्चते गौण प्रयोग है न मुख्य या वृत्तिया मुख्य वृत्ति से नाम रह नहीं हो सकता है प्रज्ञान का नाम नहीं हो सकता उपलब्धूर उपलब्ध जैसे नाम होता है अर्थ की उपलब्धि के लिए ये जो प्रज्ञान आदि शब्द भी उस उपलब्धा का उपलब्धि के लिए है इन्हीं को देख करके आत्मा है करके ज्ञान होता है ये वृत्ति के माध्यम से ज्ञान है वृत्ति विषय नहीं बनाएगी किंतु वृत्ति के साक्षी रूप से ज्ञान हो जाता है इसलिए उपलब्धि के उपलब्धि के लिए होने के कारण से उसको नाम रहे बता नाम बता दिया कहा माने नाम जो काम करता है वही काम वृत्तियां कर रहे हैं नाम क्या काम करेगा अर्थ की उपलब्धि के साधन होते हैं वो इसी प्रकार ये वृत्तियां भी उपलब्धा की उपलब्धि के साथ इसलिए उसको नाम कहा गौण है ये कहा ठीक है हमें कहते हैं उपलब्ध और उपलब्ध तत्व का कथम संज्ञा हो गई उपलब्धि के उपलब्धि की उपलब्धा के उपलब्धि के लिए कैसे वृत्तियां होती है वृत्ति से कैसे उपलब्धा की उपलब्धि होगी माने वृत्ति के द्वारा वृत्ति के उपलब्धा जो होगा आत्मा उसकी उपलब्धि कैसे होगी ये शंका है उपलब्ध उपलब्धर्थत्व बा कथम उपलब्धा के उपलब्धि के लिए वृत्तियां कैसे संचार उत्तर देते हैं तद उपाधि उसकी उपाधि है वो उस उपलब्धा के उपाधि है सारे तो उपलब्धा है उसकी उपाधि है इसलिए कहा इसलिए कहा शुद्ध प्रज्ञान रूप से ब्रह्म उपाधि भूता ये जो वृत्तियां उपाधि है शुद्ध जो प्रज्ञान स्वरूप आत्मा का उपाधियां है वृत्तियां उपाधि के द्वारा उपहित का ज्ञान हो जाता है कहना चाहते यथा उपाधि भूता अतः उपलब्ध था ये कहते हैं जिससे कि देखो ये उपाधि स्वरूप है उस आत्मा का इसलिए अतः उपलब्धि के लिए है उस आत्मा की उपलब्धि अतो गौणिया वृत्तिया नामधेयानी होती ये गौण वृत्ति से कहा नाम कहा नामधेय मैंने नाम गौण वृत्ति से बताया गया नाम है यथवा अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं संज्ञान संज्ञानादि शब्द न वृत्तय उच्चते श्रुति में जो संज्ञान अज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेरा धृति स्मृति आदि जो बोला है वो वृत्ति को नहीं कहा जाता इसे अभी तो वृत्ति अर्थ किया था संज्ञानादि का अर्थ मनोवृत्तियां अब कहते वृत्ति नहीं संज्ञानादि शब्द ही है ये कहा जाता है यदा संज्ञान संज्ञानादि शब्द न वृत्तय उच्चते श्रुति में जो संज्ञान विज्ञान आज्ञान आदि कहा वो वृत्ति को नहीं कहा जाता किंतु तो संज्ञानादि शब्द आएगा संज्ञानादि शब्द से संज्ञानादि शब्द ही कहा जाता है शब्द ही है लक्षण या अविधीयते व्याकरण में एक सूत्र दिया है सोम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा व्याकरण में जो संज्ञा सूत्र हैं वो तो उसके संगी तो दूसरा होगा नाम ही दूसरा होगा उसका जैसे अदयन गुणा गुण संज्ञा करेगा गुण शब्द का गुण संज्ञा नहीं होती है किसकी अ ये होती गुण संज्ञा होती है गुण शब्द की गुण संज्ञा नहीं होती वो तो व्याकरण की संज्ञा है तो व्याकरण शास्त्र में जो संज्ञा है वो संज्ञा को छोड़ करके अन्यत्र जो व्याकरण सूत्र आएंगे संज्ञा सूत्र छोड़कर अन्य सूत्र में जहां पर कोई किसी का उच्चारण करे तो अपने स्वरूप का ही बोलता है जैसे अग्नि ढक बोलेंगे वहां अग्नि शब्द से ढक करना है अग्नि का अर्थ अंगारा से ढक नहीं करना है अग्नि के पर्यावाचक बनी से भी ढक नहीं करना है स्वरूपम शब्द से अशब्द ऐसा यहां भी ऐसा ही है संज्ञान आदि का संज्ञान आदि शब्द ही है उस रूप से कह रहे ये बताना चाहते हैं ये कहा यदवा श्रुतम संज्ञान आदि शब्द श्रुति में जो संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान आदि कहा इन शब्दों के द्वारा न वृत्त है उच्च अंतकर्म की वृत्ति नहीं कहा जाता या वृत्तियां नहीं पहले वृत्तियां एक मुख्य अर्थ करती है अथवा ये भी अर्थ हो सकता है किंतु संज्ञान आदि शब्द आएगा जो संज्ञान आदि शब्द है जैसे संज्ञान विज्ञान ऐसे शब्द है वही शब्द ही लिया जाएगा स्वरूपम शब्द से सर्व हमारे शब्द जो होता है अपने स्वरूप का ही कथन करता है संज्ञान से वृत्ति का कथन नहीं संज्ञान का ही कथन होता है स्वरूपम शब्द से संज्ञी अपना स्वरूप का ही कथन करेगा सब संज्ञान बोलने पर संज्ञान ही है वो वृत्ति नहीं ऐसा एक अर्थ ही निकालते हैं यद वस्तु तो संज्ञानादि शब्द न होते किंतु संज्ञानादि शब्द एवं लक्षण लक्षणावृत्ति से संज्ञान का अर्थ है तो लक्षण अभिधि अभिधीयते ऐसा कहा जाता है कहां देखा तो कहते गाम उच्चारहिति इत्यत्र जैसे गाम उच्चारयती बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा गाम ऐसा शब्द का उच्चारण करता है या अपने स्वरूप का ही कथन कर रहा है गाम शब्द नहीं कि गाय को नहीं बोल रहा है अर्थ नहीं बोल रहा है गाम उच्चारयती माने क्या करता है गाम शब्द का उच्चारण करता है यह अर्थ आएगा या गाम उच्चारण थे गाय का उच्चारण करता है अर्थ में नहीं गया कहा गया शब्द है गाम शब्द का उच्चारण करता है गाम ऐसा उच्चारण करता है तो यहां पर गाम शब्द जो है अपने स्वरूप का ही कथन कर रहा है या चौपा या जानवर का कथन नहीं कर रहा है गाय गो ऐसा अर्थ नहीं कर रहा है शब्द का ही बोध करा रहा है गांव ऐसा उच्चारण करता है देवदत्ता देवदत्ता गांव उच्चारे थी गांव ऐसा शब्द का उच्चारण करता है बोलते समय गाय नहीं आएगी क्या आएगा गांव शब्द ही आएगा स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञान अपने स्वरूप का ही कथन करता है तो यहां भी संज्ञान आदि से ऐसे शब्द ये टिप्पणी है दो नंबर की मतलब लक्षण है शब्द शास्त्राद अन्यत्रा शब्दान स्वरूप स्वरूप परत्व सदृष्टान्त शब्द शास्त्र में तो क्या होता है शब्दों का संगी स्वयं होता है जैसे भक्त बोलेंगे तो अग्नि शब्द से ढक करना है वहां पर पर्यावाचक आदि से नहीं करता अग्नि के अर्थ से कोयले से ढक नहीं होगा ढक प्रत्यय नहीं होगा आग्नेय बनाने के लिए सोमरूपम शब्द से असल नहीं वो व्याकरण शास्त्र की बात है अन्यत्र भी एक चरितार्थ होता है कह रहे हैं टिप्पणी का शब्द शास्त्र अन्यत्र आप शब्द शास्त्र व्याकरण है उससे अन्य अन्य में भी शब्दान स्वरूप तुम संगठन शब्द जो होता है अपने स्वरूप परक भी होता है बाकी तो शब्द ज्यादा अर्थपरक होते हैं शब्द का आने पर अर्थ में व्यवहार होता है कहीं कहीं शब्द का अर्थ शब्द ही होता है ऐसा देखा है अन्यत्र भी देखा व्याकरण में तो है ही चलो व्याकरण छोड़ करके अन्यत्र व्याकरण में जितने संज्ञा सूत्र है उसके तो अर्थ अलग रहेगा संज्ञा अलग है अर्थ अलग है संज्ञा सूत्र को छोड़ करके अन्य सूत्रों में जो शब्द आएंगे वो अपने बोध कराएगा अर्थबोध नहीं कराएगा ऐसे यहां भी शब्द शब्द शास्त्रात अन्य शब्द शास्त्र होता है व्याकरण उससे अन्य में भी शब्दानाम स्वरूप परत्व शब्द में अपना स्वरूप परता है कहा देख सब दृष्टांत हो रहे दृष्टांत के साथ दिखाते कहा देखा गांव उच्चारित में देखा है गांव उच्चारित मैंने गांव ऐसा शब्द का उच्चारण करता है यह अर्थ है यहाँ नहीं कि गाय का उच्चारण करता नहीं आएगा अर्थ घटित नहीं होगा यहाँ शब्द का ही है ये बताया तो यहां पर संज्ञानादि शब्द से संज्ञानादि शब्द ही लेना वृत्ति नहीं लेना अब की बार ऐसी व्याख्या करना चाहते इस तरह से जाना तो क्या होगा स्थिति में तथा जवास में संज्ञानादि शब्द जो संज्ञानादि शब्द है संज्ञान अज्ञान विज्ञान आदि जो स्थिति में आए हुए शब्द हैं ये शब्द संज्ञानादि वृत्ति विशिष्ट प्रज्ञान से नामधेयानी संज्ञान संज्ञानादि जो वृत्ति है वृत्ति विशिष्ट जो प्रज्ञान है संज्ञानादि वृत्ति विशिष्ट जो प्रज्ञान है उसका नाम हो जाते हैं आमदयानी शांति ये कहा भवंती पहले वाला भगवंती का अर्थ शांति कहा होते हुए ऐसा अर्थ करेंगे होते हुए अर्थ आएगा ये हाँ, सब सती शांति ये शांति जो है क्रियापद नहीं है ये प्राज प्रथमांत प्राजवेदिक है ये बोलना चाह रहे हैं तो संज्ञान आदि शब्द क्या हो जाएंगे संज्ञान आदि वृत्ति विशिष्ट जो प्रज्ञान है हाँ, उसके नाम होते हुए तद द्वारा आदि आगे संबंध होगा तद्वारा द्वारा उस वृत्ति के द्वारा संज्ञान आदि के शब्दों के द्वारा शुद्ध से वो प्रज्ञान से लक्षण है नाम देगा शुद्ध का ही नाम बन जाएगा ये भगवंता तब उपाधि देने इत्यादि कहा टिप्पणियां हैं तथा तीन नंबर की टिप्पणी तसाम तेसाम तथा मैंने तेसाम स्वरूप स्वरूप परत्व स्वरूप पर कहेंगे संज्ञान माने संज्ञान ही है वृत्ति नहीं मानेंगे तो उस स्थिति में संज्ञानादि शब्दा संज्ञानादि वृत्ति विशिष्ट प्रज्ञान से जो संज्ञानादि वृत्ति से युक्त जो प्रज्ञान है उस प्रज्ञान का नाम हो जाते हैं संज्ञान शब्द संति चार विधिमन का आद्यम भवंती सुबंतम इतिहास में व्यर्थ यहाँ दो भवंती है भाष्य में कहिए ब्रह्मण उपाधि भूता तद उपाधि जनित नाम रेयानी भवंती संज्ञानादि एक भवंती और आगे भवंती है सर्वाणी एवं एतानी की मात्र से प्रज्ञान से नाम धेयानी भवंती राशि में दो भवंती पाठ है तो पहले वाला भवंती क्या है सुबंत है क्या हाँ, भवत भवती भवंती नपुंसजन प्रयोग है नपुंसजन प्रयोग किया है भवत भवती भवंती होते होता हुआ या होते हुए यह अर्थ आ जाएगा उसी का अर्थ संति किया है हाँ, सत सती संति नपुंसक लिंगम है पहले वाला जो भगवंती भाष्य में उसका अर्थ है ये बताया चार नंबर टिप्पणी आद्यम भवंती थी सुबंतम इतिहास ने आद्य पहले वाला जो भवंती है सुबंत है ऐसा मान करके माने नपुंसक में प्रयोग है भवत भवती भवंती ऐसा प्रयोग है बहुवचन है ऐसा करके यहाँ शांति करके लिख दिया कोई भवंती का अर्थ शांति किया ठीक है ये बताया तद द्वारा कुछ संज्ञान आदि शब्दों के द्वारा शुद्ध से प्रज्ञान से लक्षण लक्षण नाम ज्ञान फिर भी कोई शुद्ध का ही नाम हो जाएंगे ये कहा तद उपाधि जनित इत्यादि कहा था आगे टीका हम बोलते हैं वृत्ति उपाधि जनितो गुणो वृत्ति उपहितम रूपम वृत्ति से उत्पन्न होने वाला गुण क्या होगा वृत्ति रूप उपाधि से उत्पन्न जो गुण है क्या गुण आएगा उसमें गौण नाम है तो क्या गुण आएगा कहते हैं वृत्ति उपत रूप वृत्ति विशिष्ट जो रूप हो जाए वृत्ति में उपहित रूप हो जाए वृत्ति प्रतिफलित चेतन हो जाए यही है उसका गौण रूप अकेला ना होना वृत्ति सहित होना वृत्ति उपाधि जनित गुण क्या है तो कहा वृत्ति रूपम वृत्ति में जो उपहित रूप है उस चेतन का तम नाम रेयानी संति उसके नाम होते हुए ये जो संज्ञान आदि शब्द सर्वाणी ये रहता है जितने बताए गए संज्ञान विज्ञान अज्ञान प्रज्ञान जो भी बताए सब संज्ञान संज्ञान आदि शब्द प्रज्ञान ऐसा नाम रेयानी भवनी ज्ञान संज्ञान आदि शब्द प्रज्ञान ब्रह्म का ही नाम हो जाता है या आगे कहा था भाष्य में सर्वाणी एवं एतानी प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान से नाम ध्यान होती न स्वतः साक्षात कहा था स्वतः साक्षात तो नाम है ही नहीं उसका तथा च उत्तम इसी अन्यत्र कहा है वृद्धारण्य आदि में कहा है प्राण एवं प्राणो नाम होती परमात्मा प्राण नहीं प्राण क्रिया जब करता है तो वो प्राण नाम का हो जाता है पश्चम चक्षु हाँ, श्रोणवन श्रोत्रम ऐसा कहा सुनता है तो सुरोत्र कहते हैं उस काल में देखता है जिस काल में देखता हुआ देखता है तो चक्षु बोलते हैं उसको श्रोता नहीं इसी प्रकार है कहा ठीक है प्राण में क्रियाम कुर्बन प्राणो नाम भवती यही है प्राण एवं प्राणो भवती का अर्थ है प्राण क्रिया जब करता है तो प्राण नाम प्राप्त करता है स्वतः नाम नहीं उसका तब तक क्रिया जनित नाम प्राण में क्रियाम कुर्बन प्राणो नाम भवती अनैना इस वाक्य के द्वारा प्राणन वृत्ति उपाधिकम आत्मा प्राण नाम होता प्राण वृत्ति उपाधि वाला जो आत्मा होगा उसको प्राण नाम उस आत्मा में प्राण नाम आ जाता है प्राण वृत्ति उपाधिकम आत्मा प्राण वृत्ति उपाधि वाला जो आत्मा होगा यानी निरुपाधि का आत्मा प्राण नहीं प्राण वृत्ति उपाधि वाला जो आत्मा होगा वो प्राण नाम वाला आ जाएगा उसका प्राणात्मा होता एक आत्मा यद्यपि संज्ञानादि नाम नाम तथा न औपाधिकत्व होता यद्यपि यह श्रुति जो पूर्व में कहा संज्ञान अज्ञान विज्ञान आदि में उपाधिक शब्द नहीं आया है संज्ञान आदि शब्द को उपाधि नहीं कहा यद्यपि संज्ञान आदि नाम नाम संज्ञान नाम में तत्र न उपाधिक होता हूं वहां संज्ञान आदि में प्राण में प्राण भवती आदि में संज्ञान आदि को उपाधि नहीं बताया वहां तो प्राण क्रिया आदि की चर्चा थी यहाँ संज्ञान आदि शब्द की बात है यद्यपि संज्ञानादि नाम नाम तो संज्ञानादि नाम वहां तत्र मैंने वृद्धारण में वहां वृद्धारण कुर्ति है न औपाधिगत उत्तम उपाधि रूप से नहीं कहा संज्ञानादि को तो प्राणादि क्रिया को बोला है प्राणादि क्रिया को लेकर बोला है तथापि तुल्य का तया एवं ये समान है युक्ति समान है जैसे वहां पर उन उन क्रियाओं को करने से वो नाम मिला इसी प्रकार यहां भी ये वृत्ति के उपहित होने से ये नाम मिला न्याय युक्ति बराबर है वहां जैसे वृत्तारण या प्राण क्रिया करने के कारण प्राण कहा उसी प्रकार यहां भी इन इन वृत्तियों के कारण उसको ये शब्द से बोल दिया युक्ति समान है एक कहा यद्यपि उपाधि रूप से संज्ञान आदि को वृद्धादि को नहीं बोला प्राण प्राणो भगवती आदि में संज्ञान आदि शब्द नहीं है वहां होने पर भी तथा फिर भी तुल्य न्यायता आएगा तुल्य युक्ति समान होने से तुल्य न्यायतया एवं तेषाम अपनी औपाधिकत्व ये जो पूर्व कथित जो संज्ञान आदि है वो औपाधिक है ये सिद्ध हो जाएगा यदि उत्तम उक्त प्राय है कहा उक्त प्राय है एक कहा टिप्पणियां पांच छह की टिप्पणी है पांच में कहते हैं तत्र मैंने प्राण वाक्य उस प्राण वाक्य में यदि संज्ञान आदि शब्दों की चर्चा नहीं है प्राण जो प्राण भवती आदि में संज्ञान आदि शब्द नहीं है तो फिर भी समान है वहां उन प्राण क्रिया के कारण प्राण कहा जाता है तो यहां पर ही संज्ञान आदि वृत्ति के कारण उसको संज्ञान प्रज्ञान आदि बोला जाएगा ये कहा समान है कहा नाम है वो छह की टिप्पणी औपाधिकत्व उत्तम छह की टिप्पणी है संज्ञान आदि वृत्ति रूप उपाधि प्रवृत्ति निमित्तक संज्ञान आदि जो वृत्ति स्वरूप उपाधि है उसके प्रवृत्ति का निमित्तक हो जाता है हाँ नाम संज्ञान आदि के प्रवृत्ति के निमित्त हो जाता है ये रहे अच्छा ठीक है ये तब तो उत्तम भवती देखो निष्कर्ष निकालते हैं ये हो जाता है कैसा देखो संज्ञानादि शब्द प्रकाशात्मक वस्तु बाची संज्ञान संज्ञानादि शब्द क्या है प्रकाशात्मक जो प्रकाश स्वरूप वस्तु है उसका वाचक है ये शब्द है वाचक है इसका वाच्य होगा प्रकाश रूप आत्मा ये वाचक है शब्द संज्ञान आदि शब्द जो संज्ञान आदि जितने भी बताए गए अपने स्वरूप का ही बोध कर रहे अब क्या वृत्ति वृत्ति अर्थ नहीं लिया जा रहा है ये शब्द नाम है किसके है प्रकाश स्वरूप आत्मा का संज्ञान आदि शब्द हाँ, प्रकाशात्मक वस्तु वाच्य प्रकाशात्मक जो वस्तु आत्मा वस्तु है उसका वाचक है आत्मा इसका वाच्य बनेगा ये वाचक है कहा वाची न हाँ। सात की टिप्पणी श्रुते तत्रैव तात्पर्य श्रुति का तात्पर्य उसी में है संज्ञाना भी शब्द ये नाम है वाचक है किसके आत्मा प्रकाश आत्मा श्रुति का तात्पर्य उसी में है नाम है का किंतु देखो न साक्षात अंधकरण वृत्ति नाम जड़ाना प्रकाशात्मक शब्द ये जो अंधकरण की वृत्ति जो है जड़ है साक्षात प्रकाश स्वरूप नहीं हो सकते साक्षात प्रकाश नहीं हो सकते जड़ है न साक्षात अंधकरण वृत्ति नाम अंतकरण वृत्ति जो है साक्षात रूप से जड़ानाम प्रकाशात्मक न संभवती हाँ। तो प्रकाश स्वरूप नहीं हो सकते साक्षात ये इनमें किसी के द्वारा प्रकाश मिला है इसलिए प्रकाश रूप होकर काम कर रहे हैं वृत्ति ज्ञान बोलते हैं ना इनको इनमें किसी का प्रकाश है साक्षात प्रकाश नहीं है किसी से उधार आया हुआ जिससे आया वो आत्मा है की बात यही है जिससे इनको प्रकाश मिला है वो आत्मा है ये सिद्ध करना जड़ वृत्ति में तो प्रकाश को देख कर ये बोलना चाहते ये कहा तब साक्षात हमने गणित जड़ा नाम प्रकाश अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप तो हो नहीं सकते जड़ है ये अंतग्रहण वृत्ति प्रकाशात्मक वस्तु वस्तु ने अध्यासा दे जो प्रकाशात्मक जो वस्तु होगा उसमें अध्यास है इनका इसलिए प्रकाश स्वरूप बने हुए हैं मैंने प्रकाश के साथ तादात्म्य प्राप्त करना है इसलिए प्रकाश रूप हो रहा है जैसे अग्नि के साथ तादात्म्य करेंगे लोहा भी अग्नि हो जाता है अग्नि का काम करता है छोटा नहीं है अग्नि के साथ संबंध करने पर लोहा अग्नि का काम करता है जलाने का काम करता है छोटा नहीं उसमें अन्य के साथ अध्यास है उसका इसी प्रकार इसके भी जिसके साथ अध्यास होगा ये वृत्ति होगा जिससे प्रकाश स्वरूप काम कर रहे हैं वह आत्मा है इस तरह सिद्ध होगा तो यही कहा जाता है न तो साक्षात अंधकरण वृत्ति नाम जड़ानाम प्रकाश होना संभव है जड़ वृत्ति है अंतकरण वृत्ति इसमें साक्षात प्रकाश स्वरूप होना संभव नहीं प्रकाशात्मक वस्तु वस्तु ने अध्यासाद प्रकाशात्मक वस्तु में इनका अध्यास है तादात्म्य है अध्यासाद है तो, तासाम प्रकाशवत तो, इन वृत्तियों में प्रकाश होता तो है तासाम वृत्ति नाम प्रकाशमत करता हूं जैसे लोहे का अग्नि के साथ तादात्म्य होता है तो इसमें दाहकत्व तो आ जाता है स्वतः दाहकत्व तो नहीं है इसी प्रकार ये वृत्ति भी जड़ है जड़ में प्रकाशात्मक तो स्वतः नहीं है साक्षात नहीं तो कोई प्रकाश रूप वस्तु में अभ्यास है इसका इसलिए इसमें प्रकाशात्मक तो आ जाए प्रकाश विकल्प है तो ऐसा कल्पना करते हुए अधिष्ठान भूतम अतिरिक्त प्रकाशम गमन यही सिद्ध करते हैं कि स्वतः प्रकाश में होते होते प्रकाश कर रहे हैं तो इनका अधिष्ठान जिसमें ये तादाद में हो रखा है इनका जो इनका अधिष्ठान जिसमें कल्पित है वृत्तियां अधिष्ठान भूत भूतम अतिरिक्तम अधिष्ठान स्वरूप अतिरिक्त जो प्रकाश है प्रकाश को सिद्ध करते हुए ये वृत्तियां परिवसान गत्या प्रकाशात्मन प्रज्ञान से नाम हो गया इस तरह से परिवसान हो जाते हैं वृत्तियां एक अपने से अतिरिक्त अधिष्ठान प्रकाशात्मक वस्तु की सिद्धि करते हैं स्वतः जड़ हुए प्रकाश जड़ होते हुए प्रकाश रूप होने के कारण उसका अधिष्ठान प्रकाश है ये सिद्ध करते हैं इसलिए प्रकाशात्मन प्रज्ञान से नाम ज्ञान मिले प्रकाशा प्रकाश रूप परमात्मा का नाम हो जाते हैं ये वृत्तियां ये बताया टिप्पणियां हैं आठ पाठ में कहा साक्षात मन स्वरूपेण प्रकाशात्मक तो नहीं है जड़ है तो किंतु प्रकाश बन के बैठे हुए हैं तो जिस अधिष्ठान में तादात्म्य करके प्रकाश पाए हैं वो अधिष्ठान अपने से भिन्न है ये सिद्ध कर देते हैं उल्टा नाम हो जाते हैं इस प्रकाश रूप परमात्मा का नाम हो जाते हैं सिद्ध हो गया ये बता दें आगे टीका में कहते हैं अत्र संज्ञानादि नाम अनित्यत्व जड़ानाम वृत्ति नाम प्रकाशात्मक वस्तुवाचक वाचक संज्ञादी नाम नामकत्व अनुपत्ति तद व्यतिरिक्त कश्चित प्रकाश रूप अस्तित्व यही कहा अभी कि संज्ञान आदि जितने भी शब्द आए हैं अनित्यत्व मृत्यु नाम जड़ है वृत्तियां सारे संज्ञान अज्ञान विज्ञान अनित्य होने से संज्ञान आदि शब्द होता है नाम प्रकाशात्मक वस्तुवाचक संज्ञा संज्ञानाद संज्ञानादि नामकत्व अनुपत्ति तो जड़ है वृत्तियां अनित्य हैं तो प्रकाश स्वरूप वस्तु के नाम नहीं हो सकते प्रकाशात्मक तो कल्पना नहीं कर सकते इनमें कहते तद व्यतिरिक्त इस वृत्ति से अतिरिक्त कश्चित प्रकाश रूप अस्तित्व कोई ना कोई प्रकाश है जो इनसे अतिरिक्त प्रकाश है वह आत्मा है ये सिद्ध हो जाता है टिप्पणी दस ग्यारह दस बारह अत्र सर्वाणी इति वाक्य सर्वाणी इत्यादि वाक्य सर्वाणी ये वेतानी प्रकृति मात्र से प्रज्ञान से नामानी इत्यादि इस वाक्य देता ज्ञान जड़ पे हेतु आया जड़ में हेतु दिया क्या हेतु दिया अनित्य अनित्य है तो वृत्तियां वृत्तियां भी है तो प्रकाश वस्तु का वाचक जो संज्ञादी नाम का हो नहीं सकते ये से उससे अतिरिक्त कोई प्रकाश रूप है ये सिद्ध करते हैं कहा टीका में आगे बोलते तथा संज्ञान आदि शब्द वाच्य तो किया ये जो परमात्मा आत्मा का नाम आत्मा हो गया संज्ञान आदि शब्द का वाच्य अर्थ हो गया संज्ञान आदि नाम हो गए संज्ञान आदि के वाच्य हो गया आत्मा तो संज्ञान आदि शब्द वाच्य रूपया तत्प्रज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम इत्यत्र प्रज्ञा प्रज्ञता रूपा वृत्ति न भवती इत्यत्र इसलिए वो जो प्रज्ञान है विज्ञानम प्रज्ञानम इत्यत्र जहां विज्ञानम प्रज्ञान में प्रज्ञान आया था वो तो प्रज्ञता रूपी एक वृत्ति है ये जो प्रज्ञान है अभी ये वृत्ति नहीं है उस वृत्ति का वाच्य है एक प्रज्ञान तो वृत्ति रूपा है नाम है वो और ये अभी जो प्रज्ञान कहा गया प्रज्ञान से नाम ध्यान भगवती वो जैसा प्रज्ञान प्रज्ञान नहीं है ये कहते वाच्य कहा तथा संज्ञानादि शब्द वाच्यत्व गया ये जो प्रज्ञान अभी जो प्रज्ञान आया हुआ है प्रज्ञान से नाम दयान प्रज्ञान वो संज्ञानादि शब्दों का वाच्य है ये हाँ, वो शब्द कोटि में नहीं अर्थ कोटि का है ऐसा से वाच्य होने से तत्प्रज्ञान ये जो प्रज्ञान है अभी आया हुआ प्रज्ञान प्रज्ञान से नाम ध्यान का आयोग प्रज्ञान जो है विज्ञानम प्रज्ञानम इत्यत्र है जैसे विज्ञानम प्रज्ञान में प्रज्ञान का अर्थ वृत्ति है उस प्रकार यहाँ प्रज्ञता रूपा वृत्ति न होती वो प्रज्ञान अभी का प्रज्ञान वो प्रज्ञता रूपा वृत्ति रूपा नहीं है ये ये तो ना, नाम ही है परमात्मा है अभी का प्रज्ञान ये बता ये जो वह प्रज्ञान है वाच्य जिसका वृत्तियों का जो वाच्य बना हुआ प्रज्ञान है वह प्रज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम इत्यत्र जहां विज्ञानम प्रज्ञान में वृत्ति रूप प्रज्ञान है वो उसके समान प्रज्ञता रूपा वृत्ति न हो ये प्रज्ञान प्रज्ञता रूपा वृत्ति नहीं है तात्कालिक ज्ञान रूपा वृत्ति नहीं है ये तो हो जाए उस प्रज्ञान का बाच्य है प्रज्ञान एक वृत्ति रूपा प्रज्ञान और ये बाच्य रूप प्रज्ञान है आत्मा एक बारह की टिप्पणी में कहते हैं पूर्व वाक्य स्तम व्यतिरिक व्यवहार थे पूर्व वाक्य में स्थित जो प्रज्ञान है उसको व्यतिरिक रूप से दिया ये जो आत्मा है प्रज्ञान से नाम रेय से भव नाम रेयान भवंती इत्यादि कहा था उसी का व्यतिरिक वो प्रज्ञान जैसा यह प्रज्ञान पहले वाला तो वृत्ति रूपा है संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम जो आया था वो प्रज्ञान तो वृत्ति है वो जैसा ये नहीं ये है ये वाच्य है अभी का प्रज्ञान वो है वाचक पहले वाला वृत्ति में आया हुआ वाचक है और ये अभी जो प्रज्ञान से नाम ध्यान है भाच्य है यह रूप है और शब्द रूप था इत्यादि भेद किया ठीक है अभी कहते हैं आगे तस्या संज्ञानादि शब्द तस्या संज्ञानादि वाच्यत्व अनुपत्ति है तस्या तो ये जो प्रज्ञान है अभी का प्रज्ञान है अच्छा पहले वाले जो प्रज्ञान है संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान कहा था वो प्रज्ञान तस्या वो प्रज्ञान शब्द जो आया था उस वृत्तिवाचक प्रज्ञान का संज्ञान आदि वाच्य तो तो संज्ञान आदि का वाच्य नहीं बनेगा वो वो तो वाचक कोटि में है पहले वाले जो प्रज्ञान है तो संज्ञान आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम कहा था तस्या वो प्रज्ञान उस वृत्ति रूप प्रज्ञान का संज्ञान आदि वाच्य तो संज्ञान आदि के वाच्य नहीं हो तो संज्ञान आदि शब्दात्मक है वो वाच्य अभी जो प्रज्ञान शब्द आए वाच्य है पहले वाली के पहला वाला बाच्य नहीं हो सकता वो बाच्य कर अभी जो दिया प्रज्ञान स्नाम ध्यान भगवती प्रज्ञान शब्द बाच्य है ये ना, नामी है ये एक तथा संज्ञानादि सर्वाणी एक प्रज्ञान स्नामानी संज्ञानादि जितने भी वृत्तियां बताई गई नाम बताए संज्ञान आज्ञान प्रज्ञान विज्ञान जो भी बताए सब एक ही का नाम है सारे आदि सर्वाणी आदि जितने भी नाम बताए गए एक प्रज्ञान एक ही जो प्रज्ञान है प्रज्ञान ब्रह्म एक है उसका नामानी युग नाम है सारे एक ही का नाम है सारे नाम एक ही प्रज्ञान रूप ब्रह्म का नाम है यदि क्या इस कथन से तत्प्रज्ञानम एकम वो प्रज्ञान एक है सिद्ध हो गया एकम सर्ववृत्ति अनुगतम सारे वृत्ति में अनुगत है वो सारे वृत्ति उसी के तो द्वारा जीवित है वृत्ति का अभिभाषक वही है सारे वृत्तियों के द्वारा वही जाना जाता है वृत्ति बनी है तो वृत्ति के साक्षी रूप से सारे वृत्ति के साक्षी रूप से वही जाना जा रहा है एक है वो प्रज्ञान जो मान प्रज्ञान आदि शब्दों का जो वाक्य प्रज्ञान है वो एक है और सर्ववृत्ति अनुगतम इति उत्तम सारे वृत्ति में अनुगत भी है संज्ञान अज्ञान प्रज्ञान विज्ञान मेधा आदि सब में अनुगत है तद अनेकत्व तदगत तत्त वृत्तिगता नाम प्रज्ञा नाम तत्ता नामकत्व सर्वनाम तब तो अगर वो ये प्रज्ञान में अनेक होता जो तो नामी प्रज्ञान प्रज्ञान से नाम रेयानी भगवती में जो प्रज्ञान आया ये भी यदि अनेक हो तद अनेक वो प्रज्ञान अनेक होने पर क्या होता तद तत्त वृत्तिगत आनाम प्रज्ञान वो उस वृत्ति में जाने वाला संज्ञान में आज्ञान में प्रज्ञान में वेदा में प्रत्येक वृत्ति में जाने वाला जो प्रज्ञान होगा तत्त तब नामकत्व उस नाम होने से उसका भिन्न भिन्न नाम हो जाएगा भिन्न नाम होने से सर्वनाम का तो करते फिर सर्वनाम का सर्वाणी ये प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान से नाम ध्यान भी नहीं होता सभी नाम इसी का है नहीं होता एक एक नाम हो जाता अगर जितने वृत्तियां बनी वो प्रज्ञान भिन्न भिन्न होता तो उस में भिन्न भिन्न नाम हो जाता एक एक प्रज्ञान का एक नाम होता यहाँ कह दिया भाष्यकार ने सर्वाणी एवं एतानी प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान से नाम रेयानी भवंती ऐसा कहा मंत्र में भी है सर्वाणी एवं एत से प्रज्ञान से नाम ध्यान भवंती इसका मतलब सारी वृत्तियां एक ही का है तो मान वृत्तिमान चेतन एक ही है सिद्ध होता है ये कहा तद अनेकत्व अगर वो प्रज्ञान स्वरूप चेतन भी अनेक होता तब क्या होता वृत्ति का नाम तो उस उस वृत्ति में जाने वाला जो प्रज्ञान होगा या पंद्रह सोलह वृत्तियां दिखाई है उन वृत्ति में जाने वाला जो प्रज्ञान रूप चेतन होगा तक नाम एक एक नाम प्राप्त करता संज्ञान में गया तो संज्ञान नाम प्राप्त करता विज्ञान में गया तो विज्ञान नाम प्राप्त एक एक नाम होता होने से सर्वनाम का तो फिर सर्वनाम नहीं आता सर्वान ये एक प्रज्ञान नाम अनुभवती नहीं होता सभी का सभी नाम उसका नहीं हो पाता ये कहा सभी नाम उसका है कहा हुआ है इसलिए सिद्ध होता है कि वो एक ही है ये जो प्रज्ञान जिसका ये सब नाम है ये प्रज्ञान एक है ये सिद्ध होता है ठीक है कहते हैं प्रज्ञान से एक वचन अनुपत्य दूसरी बात प्रज्ञान से नाम भवन ष्टी का एक वचन लगाया है प्रज्ञान से ऐसा बोला है इसे भी सिद्ध होता है वो एक ही है नहीं तो एक वचन क्यों लगाते प्रज्ञान नाम हाँ, नाम रेयानी भगवती बोलते तो बहुवचन लगाते अगर अनेक होता तो या प्रज्ञान से पत्र है तो सर्वाणी प्रज्ञान से नाम रेयानी भगवती ऐसा कहा हाँ, प्रज्ञान से एक वचन है उससे भी सिद्ध होता है कि प्रज्ञान एक ही है अतो ये न पश्यति इत्यादि नाम ध्यान भवती इत्यादि सर्वकर्म तदवृत्ति व्यतिरिक्त आत्मा का सर्वसाक्षी सर्ववृत्ति अनुगत एक आत्मा शोधित आत्मा तम पदार्थ का शोधित हो गया कहते हैं ये नवा पश्यति से आरंभ करके ये नवा पश्यति ये नवा जिग्रति ये नवा सुनौती यहां से आरंभ करते और नामधेयानी भवंती तक यदि तद निर्दम मनस्य तत् यहां से लेकर के आज्ञान संज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम करके नाम ज्ञान गौर देता ये दो मंत्रों की जो चर्चा है दोनों से निष्कर्ष निकला तो ये नवा पश्चिम यहां से लेकर पूर्व मंत्र में है ये और इस मंत्र में नाम रेयानी भवंती है यहां तक पूरे दोनों मंत्रों का अर्थ निकलता है यदि आते है ना सर्वकर्ण तद व्यतिरिक्त सारे इंद्रिया हाँ, और उससे अतिरिक्त जो प्रकाश आता है सर्वकर्ण तदवृत्ति व्यतिरिक्त सारे इंद्रिया और इंद्रिय के व्यापार सप्तत इंद्रियों के दाता उससे अतिरिक्त सारे इंद्रियों से भी अलग है इंद्रियों के व्यापार से भी अलग है ये सिद्ध होता है सारे इंद्रिया और तद वृत्ति मानी उस इंद्रियों की वृत्तियां जितनी चाहे बहिर् इंद्रिय हो चाहे अंतर इंद्रिया हो अंतकरण हो चाहे बहिकरण हो सारे इंद्रिया और इंद्रियों की वृत्ति उससे अतिरिक्त स्वप्रकाशात्मक स्वयं प्रकाश स्वरूप सर्वसाक्षी सारे इंद्रियों को भी जानता है इंद्रिया ठीक है कि नहीं है इंद्रिया कहाँ गई क्या काम कर रही वो भी जानता वृत्तियों को भी जानता मनोवृत्ति बुद्धि वृत्ति चक्षुरादि इंद्रियों की वृत्ति सब वृत्तियों को जानता है सर्ववृत्ति का साक्षी हाँ, उसके व्यापार की साक्षी है कौन इंद्रिय क्या काम कर रहे हैं कहाँ जा रही है जानने वाला है ये सिद्ध होता है क्या तो ये अतो ये नवा पश्यति से लेकर के जिससे देखता है इत्यादि कहा था वहां से लेकर नामधेयानी भवंती प्रज्ञान से नामधेयानी भवंती यहां तक दो मंत्र की सारांश ही निकलता मतलब है इति अंत यहां तक से द्वारा सर्वकर्ण तद वृत्ति व्यतिरिक्त सारे कारण अंतकरण बहिष्करण दोनों प्रकार के कारण बाहर क्यों चाहे भीतर क्यों उपकरण और उनकी जो वृत्तियां व्यापार भिन्न भिन्न व्यापार तत्त कर्णों का व्यापार इससे अतिरिक्त इंद्रिय भी नहीं इंद्रिय से अतिरिक्त है और का स्वयं प्रकाश रूप है वो आत्मा और सर्व साक्षी सारे सबके साक्षी है इंद्रियों के भी साक्षी है वृत्तियों के साक्षी इंद्रिय ठीक है कि नहीं है वो भी जानता है अपने बारे में सब जानता है इंद्रियों के बारे में और इंद्रियों की वृत्ति के बारे में कौन इंद्रिय कौन सी वृत्ति बनाई है इस काल में वो भी जानता है सर्वसाक्षी है सबके साक्षी रूप से सर्ववृत्ति अनुगत है सारे वृत्तियों में अनुगत है वो उसके बिना वृत्ति बन नहीं सकती एक आत्मा शोभिता एक ही आत्मा है ये तुम पदार्थ शोधित हो गया ये कहा एक आत्मा शोधिता मैंने तुम पदार्थ तब तुम इसी में आने वाला जो तुम पदार्थ शोधित हो गया ये दो मंत्रों के द्वारा ये बता रहे शोधिता हाँ। इस प्रकार से बता रहे समय हो गया है यह रखते हैं आगे फिर करेंगे ॐ मन मनसि प्रतिष्ठिता वाक्य प्रतिष्ठित